वो आपसे हुरमत वाले महीने में अब किताल करने के बारे में सवाल करते हैं आप कह दें इसमें किताल करना कबीरा गुना है और अल्लाह ताला की राह से रोकना और उसके साथ कुफर करना और मस्जिद हराम से रोकना और इसके रहने वालों को वहाँ से निकालना अल्लाह ताला के नज़दीक इससे ज़्यादा बड़ा गुनाह है और फितना कत्ल से ज़्यादा बड़ा है और वो हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे हती कि अगर वो इस्तात पाएँ तो तुम्हें तुम्हारे दीन ही से फेर दें और तुम में से जो अपने दीन से फिर जाए फिर वो मर जाए इस हाल में कि वो काफिर हो तो यही लोग हैं जिनके आमाल दुनिया और आखिरत में ज़ाया हो गए और यही लोग आग वाले हैं वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं